सरगोशी करना यकीनन शैतान की तरफ से है ताकि उन लोगों को वो गम में मुबतला करे जो ईमान लाए हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर उन्हें हरगिज़ कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बस लाजिम है कि मोमिन अल्लाह ताला पर भरोसा करें